फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने पार्श्व गायक मुकेश ने खास बात ये ये विशेष जयमाला कार्यक्रम सजा है के एल सहगल के गानों से तो सुनिए ये विशेष जयमाला कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत किया है मुकेश ने फौजी भाइयों नमस्ते आज जिस जयमाला को मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ उसे मैंने कई एक जयमालाओं के फूलों से सजाया है उन जयमालाओं को आपकी सेवा में कई मशहूर कलाकार पेश कर चुके हैं लेकिन आज की जयमाला में जिस गायक का स्वर गूंजेगा वो है स्वर्गीय कुंदनलाल सैगल आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई गायक कलाकार शोभा बढ़ा रहे हैं लेकिन एक वक्त था जब इतने गायक नहीं थे और उस वक्त सिर्फ यही दीपक जल रहा था जिसने फिल्मी संगीत की शुरुआत की स्वरों के इस राजा ने अभिनेता के रूप में भी कई फिल्मों में काम किया और फिर अचानक इस तरह नजरों से उजल हो गया मानो कहीं छुप रहा हो और हमारी कला को हमारे संगीत को देख रहा हो सुन रहा हो और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वो कह रहा है कला की कोई सीमा नहीं कला का कोई अंत नहीं तुम्हें आगे और आगे बहुत आगे बढ़ना है फौजी भाइयों आज का जयमाला प्रोग्राम मैं स्वर्गीय के एल सैगल को मैं अर्पित कर रहा हूँ मेरे साथ जो अन्य कलाकार शामिल हैं उनमें सबसे पहले आप लता मंगेशकर के विचार सुनिए स्वर्गीय श्री के एल सहगल वैसे तो उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला लेकिन उन्हीं के गाए हुए गीतों को सुन सुनकर मेरे दिल में सुगम संगीत गाने की इच्छा हुई और इस क्षेत्र में मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ मेरे पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर जो खुद अपने जमाने के नामी कलाकार थे सैगल साहब की गायकी को बहुत पसंद करते थे और मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैं सैगल साहब का कोई गीत उन्हें सुनाऊं। अब सैगल साहब का गाया हुआ एक गीत पेश करती हूँ सोजा राजकुमारी सोजा लेकिन पहले सुनिए कि मैं किस तरह उनकी नकल करने की कोशिश किया करती थी सो जा सो जा सो जा राजकुमारी सो जा सो जा मैं बलिहारी सो जा सो जा राजकुमारी सो जा सो जा मीठे सपने आए सपनों में पी दर्स दिखाए सो जा मीठे सपने आए सपनों में भी दर्श दिखाए सपने आए सपनों में भी दर्श दिखाए सो जा सपनों में बेदर्द दिखाए उड़कर रूपन घर में जाए उड़कर रूपन घर में जाए रूपन कर की सखियाए न कर के तलत महमूद सैगल साहब की हस्ती किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और तमाम गाने वालों की तरह से मैं भी उनका पुजारी हूँ और उनके गानों से मुझे भी इश्क है मेरा अपना अकीदा है कि अल्लाह ताला ने तमाम आसमानों और ज़मीनों में जितना नूर सुर और दर्द था वो सब उनके गले में भर दिया था मेरी उनसे पहली मुलाकात कलकत्ते में ही हुई थी उस जमाने में उनकी पिक्चर मेरी बहन की शूटिंग हो रही थी और उसी जमाने में मुझे भी न्यू से मुलाजमत मिली थी वो मुलाकात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है वैसे तो उनके गाए हुए तमाम रिकॉर्ड्स एक से एक बढ़कर हैं और चुनाव मुश्किल हो जाता है मगर आप लोगों को सुनवाने के लिए मैंने उनका फिल्म दुश्मन से ये रिकॉर्ड चुना है करूं क्या आस निराश भई करूं क्या आस निराश भई करूं क्या आस निराश भई करूं क्या आस निराश भई करूं क्या आस निराश भई दिया बुझे फिर से जल जाए रात अंधेरी जाए दिन आए दिया बुझे फिर से जल जाए रात अंधेरी जाए दिन आए मिटती आस है जो तकियन की मिटती आस है तकियन की समझो गई तो गई करूं क्या आस निरास भई करूं क्या आस निराश भई करूं क्या आस रास भई अब सुनिए स्वर्गीय रोशन के विचार फौजी भाइयों मैं स्वरों के पीछे पागल जरूर था उन दिनों सहगल साहब का एक भजन जो उन्होंने पूरन भगत फिल्म में पहली ही बार गाया था मैंने ये फिल्म न जाने कितनी बार देखी होगी तो आपको भी सुनवा दो राधे रानी बेटा रोना बसरी मोरी राधरानी दरो न बसरी मोर ने राधरानी दरो न बासरी मोरे के बजाऊं रे के मंगा के बजा माम बजामो गैया काय मालामो गैया माल काय मालामो गैया हाल काय मल्हा मो गैया ये हैं हमारे नौशाद साहब के विचार किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर के टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते दिल की नजाकत के बारे में मीर अनीस का ये शेर कितना मुकम्मल है महबूब की बेवफाई या जमाने के जुल्म सितम से बेशुमार दिल पाश पाश हो गए होंगे इसी मजमून का एक नगमा मैंने फिल्म शाहजहां के लिए तैयार किया था मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को मरहूम सहगल ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था ये गाना उनको इस कदर पसंद था कि मरने से पहले उन्होंने अपने घर वालों को अपने दोस्तों को ये कहा और ये वसीहत की कि जब वो इस जहां से सफर करें रुखसत हों तो आखिर वक्त उनके शमशान भूमि के सफर तक साज यही धुन बजाते जाएं जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे और लोगों ने उनकी इस वसीहत को पूरा भी किया था तो लीजिए उस महान कलाकार की याद ताजा करने के लिए ये रिकॉर्ड सुनिए जब दिल ही टूट गया जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया जब दिल ही टूट गया उल्फत का दिया हमने इस दिल में जगाया था उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था एक भेदी लूट गया एक भेदी लूट गया हम जी के क्या करेंगे हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया ये हैं गीता दत्त के ख्याल मैंने जब सूरत संभाली तो सुगम संगीत की दुनिया में और भी बहुत से नाम मशहूर थे शमशाद बेगम सोहराबाई बाई कर्नाटकी राजकुमारी कानन बाला केसी डे पंकज मल्ली और केल साइगल क्योंकि उत्तर भारतीय होते हुए बंगला गीत भी अच्छी तरह गा लेते थे आरजू साहब का ये गीत साइगल साहब ने गाया था एक बंगला बने न्यारा बने न्यारा रहे कोनो बाज बने न्यारा बने न्यारा का बंगला चंदन का जंगला सोने का बंगला चंदन का जंगला विश्व कर मांगे भाई साहब के विचार मैं कुछ भी कहूँ आप कितने ही गीत सुने और हर चंद हो मुशाहिदाए हक की गुफ्तगु बनती नहीं है बादा सागर कहे बगैर जी हाँ जब तक मरहूम सैगल की याद ताजा न की जाए रूह को चैन न मिलेगा दिल को तस्कीन न होगी सैगल मरहूम की आवाज में फिल्म शाहजहां का गीत पेश है गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना गम दिए मुस्तफिल कितना ना दुख है दिल ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना दे उठे दावलो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना हाय हाय ये जालिम जमाना दिल के हाथों से दामा छुड़ा कर गम की नजरों से नजरें बचा कर हाथों से दाम छुड़ा कर गम की नजरों से नजरें बचा कर उठ के वो चलती है कहते ही रह गए हम फसाना

हाय हाय ये जालिम जमाना हम दिए मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये न जाना हाय हाय ये जालिम जमाना ये है अशोक कुमार जी के ख्यालात मैं तो समझता हूँ आज फिल्म में संगीत की धारा बड़ी तेजी से बदल रही है रूप भी बदल रहा है कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे गाने वाले और म्यूजिक डायरेक्टर्स इसी में बह जाएंगे और भविष्य में हमारी अपनी संगीत की कल्पना जैज और और लैटिन अमेरिकन स्टाइल में खो जाएगी मेरा ख्याल है इस वक्त सैगल जिंदा होते तो शायद इस बाढ़ को रोक सकते लीजिए ये रहा वो रिकॉर्ड जरा सुनवा दीजिए हाँ। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्यों मिलना इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला गम हुआ इरफान गम हुआ का पता मिला जब दूर तक न कोई فقیراش نہ मिला दूर तक न कोई बकीराश न मिल आज मंद तेरे दर से जा मिला मंज़िल मिली मुराद मिली मुदा मिली मुराद मिली मुदा मिल सब कुछ मुझे मिला जो جو تیرا सब कुछ मुझे मिला जो دل کو ज़ख़्म दिल को सीने दे जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे क्या एतराफ कर के निशाने वफा मिला क्या राब कर के निशाने वफा मिला अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला باب باش گفتنا دیکت نمام عمر سیما باش گفتنا دیکت نمام عمر کم وقت جم ملا ہمیں کم آشنا ملا کم وقت جم ملا ہمیں کم آشنا ملا अब तो क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला ये है श्री केन सिंह के विचार अंग्रेजी स्कूल के माहौल की वजह से बचपन में मुझे वेस्टर्न म्यूजिक से ज्यादा दिलचस्पी थी भारतीय संगीत का जादू मेरे ऊपर पहली बार तब चढ़ा जब मैं 1930 में लखनऊ में स्वर्गीय केल सैगल से मिला उस वक्त न वो फिल्में थे न मैं कुछ साल बाद जब उनसे फिर कलकत्ते मुलाकात हुई तो वो फिल्मों में थे और उनकी आवाज का जादू तेजी से फैल रहा था फिर मैं भी फिल्मी दुनिया में दाखिल हो गया और धीरे धीरे सैगल से मेल जोल एक गहरी लंबी दोस्ती का रिश्ता बन गया जो उनके देहांत तक रहा सैगल एक बेमिसाल गायक तो थे ही वो एक बेमिसाल दोस्त भी थे वो अपनी आवाज पीछे छोड़ गए हैं दौर बदलते रहे हैं बदलते रहेंगे जो चीज लोगों को आज पसंद है वो कल ना हो लेकिन सैगल का संगीत पुराना नहीं हुआ सच तो यह है फिल्म म्यूजिक को पहली बार सैगल ही ने पॉपुलर किया आइए गाना उन्हीं का हो जाए ना ना ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, Mahaviraja. બોલી તના જુતા બોલી સુમાક જાયે મેં કો જય તપોને રામ ગો જય તપોને સુકે સુકનિયાને સુનંડા જુતા હે આમડી સુનંડા જુના

na na na na ये है मन्ना डे के विचार के एल सैगल साहब बहुत लोकप्रिय थे और मेरे सभी दोस्त जानते थे कि मेरे चाचा जी के साथ उनका भी रोज का उठना बैठना है इसलिए दोस्तों की फरमाइश पर सैगल साहब के भी बहुत से हिंदी और बंगला गीत मुझे एक दफा नहीं बल्कि हजारों बार गाने पड़े होंगे उन्हीं के कुछ गीतों को गाकर मैंने अपने कॉलेज फंक्शंस में कई बार इनाम भी जीते हैं फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए आर सी बुराल के निर्देशन में उनका गाया हुआ ये गीत तो आपको भी याद होगा बाबुल मोरा नहीं हरा छोटो mara nei hara choto hita babul mara mara डोलिया सजावे चार कहारा मेला मोरे डोलिया सजावे चार कहार मेला मोरे डोलिया सजा सजावे मोरा अपना बेगाना है छूट जाए बाबूला मरा वसंत देसाई जी ने सैगल साहब के बारे में कहा स्वर सम्राट केल साइकिल गीत के बोल हैं अब मैं कहा करूं कित जाऊं कवि के इस भाव को उस सम्राट ने अपने स्वरों में इस प्रकार गाया मानो कविता की आत्मा स्वयं गा रही हो छूट गया छूट गया छूट गया सब साथ सहाय अपने भी कर गए किनारा छूट गया सब साथ सहारा अपने भी कर गए किनारा एक बारी में सब कुछ हारा आशा हारी हिम्मत हारी आशा हारी हिम्मत हारी अब क्या दाव लगाऊं करूं कित मैं काह करूं कित सौराब मोदी साहब के विचार सैगल साहब के बारे में फौजी भाइयों बात से बात बढ़ती चली जाती है लेकिन हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा फिल्मी दुनिया ही नहीं इस जहान फानी में भी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जमाने की राह में अपने वो नक्शे कदम छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटते ऐसे ही संगीत की दुनिया में एक सैगल थे जिन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे सैगल की गाई हुई कोई चीज सुनने से पहले हम तस्वीर के दूसरे रुख की बात यूं देखें सब कहा कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिना हो घर ये तेरा सदा न मेरा है घर ये तेरा है सदा न मेरा है रात दो रात का बसे है रात को रात का बसे रहा रात को रात का बसे जी को बढ़ती हुई उदासी ने जी को बढ़ती हुई उदासी ने क्या अकेला समझ के खेला है क्या अकेला समझ के खेला है क्या अकेला समझ के खेला है साथियों सैगल साहब से बार बार मुझे मिलने का मौका मिला बड़े सादा तबीयत के थे बहुत पुरमजाक और बहुत ही मिलनसार यही वजह है कि आज भी जब उनका नाम आता है तो हम लोग उन्हीं की याद में खो जाते हैं सैगल साहब जब बम्बई आए तो मरहूम मोतीलाल जी ने उनकी दावत की और दावत के मौके पर उनसे एक आध गाना गाने के लिए कहा जब गाने को कहा तो हारमोनियम नहीं था मैंने अपना हारमोनियम सैगल साहब को पेश किया देखते ही एकदम खुश होकर बोले भाई ये तो बहुत सुरीला हारमोनियम है ये किसका है ये हमें दे दो और जब सुबह चार बजे पार्टी खत्म हुई तो हमने बहुत जिद करी बहुत इल्तजा की मगर उन्होंने फिर भी वो हारमोनियम लिया नहीं और आज तक वो हारमोनियम मेरे पास है और मैं उनको उनकी याद की तरह से उनकी अमानत की तरह से अपने पास रखता हूँ साथियों सैगल साहब का कौन सा गीत पसंद है और कौन सा नापसंद है इसका फैसला करना बहुत मुश्किल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मगर खैर उनके सब गीतों में से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रीतम में चंचल बालक ललकाए दिखलाए हाथ बैठा गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए वो सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए हाथ से बैठा गढ़े खिलौने पाँव से तोड़त जाए वो तो है वो तो है एक मूर्ख बालक तू तो नहीं नारा वो तो है एक मूर्ख बालक तू तो नहीं नादा आप बनाए आप बिगाड़े ये नहीं तेरी शान ये नहीं तेरी शान दोस्तों मरहूम सहगल के साथ मेरा गायक के रूप में तो नाता है ही लेकिन इसके अलावा एक रिश्ता और भी है और वो ये है कि बम्बई में मैं और सैगल साहब एक ही गुरु से गाना सीखा करते थे और हमारा प्यारा दोस्त राज कपूर भी उन्हीं से गाना सीखता था इस तरह हम लोग गुरु भाई के मजबूत रिश्ते में भी बंधे थे मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम ने आपको एक खास मजा दिया होगा और उस अमर गायक की याद ताजा कराई होगी अब आज्ञा दीजिए जय हिंद दोस्तों केल सहगल के गीतों से सजा आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया पार्श्व गायक मुकेश ने इस विशेष जयमाला कार्यक्रम में जिन कालजयी कलाकारों के उद्गार शामिल थे उनके नाम है लता मंगेशकर तलत महमूद रोशन नौशाद गीता दत्त प्राण अशोक कुमार के एन सिंह मन्ना डे वसंत देसाई और सोहराब मोदी और हाँ दोस्तों चलने से पहले हम आपको बता दें ये कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ विविध भारती के संग